ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णा पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमाय पूर्णदेवावशिष्यते ॐ शान्ति अष्टादश अध्याय तिरपन नंबर का श्लोक तक विचार हो गया है जिसमें <clears throat> तीन श्लोक कह करके ये महावाक्य के लिए सहयोगी साधन बताया ब्रह्म भाव में पहुंचना जीव भाव को त्याग करके ब्रह्म भाव में जाने के लिए महावाक्य की आवश्यकता होगी तत्वमसी तो हम में आदि महावाक्य हैं किंतु उनके लिए सहयोगी कारण होते हैं बुद्धिया विशुद्धिया युक्त तो। जब तक अपने वर्णाश्रम धर्म कर्म के द्वारा परमाश्रम विहित कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी तब तक चाहे अनेक बार तत्व में से सुने उसको वो समझ में नहीं आएगा ठीक है व्याकरण आदि का ज्ञान है पद का अर्थ करेगा दूसरे को बताएगा किंतु अपनी समझ में नहीं आएगा अंतकरण की शुद्धि नहीं है इसलिए वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा बुद्धि शुद्धि करना आवश्यकता है तभी वो महावाक्य फलशाली होगा तत्वमसी आदि तो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वाक्य होगा आचार्यवान पुरुषों वेद कहा हुआ छांदोग में आचार्य वाला व्यक्ति ही जान सकता है स्वात्म तत्व को मनमाना ढंग से नहीं जान सकता तो मोक्षाभिलाषियों के लिए ब्रह्मभाव में पहुंचने के लिए साधन गुरु वाक्य होता है आचार्यवान पुरुषों वेद कहा हुआ है आचार्य कहेंगे तत्व से आदि महावाक्य उपदेश करेंगे किंतु उपदेश मात्र से काम नहीं चलेगा बुद्धि शुद्धि होनी आवश्यकता है वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा बुद्धि सिद्धि हो तो बुद्धिया है युक्त हो धृत्यात्मान नियम च शब्दाद विषयस्तत्वा रागदर्श विविध से भी लघ्वासी अथवा काय मानस ध्यान करो नित्यम वैराग्य समुपाश्रित अहंकार बलम तपम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच निर्मम शांतो प्रभुया करो ये सब साधन होना चाहिए ये तीन स्वरूप में कहा गया जो साधन है उसके साथ महावाक्य सुना हो बड़ा आश्रम गृहित कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि की हो अंतकरण शुद्धि होने पर स्थिति ऐसी हो जाती है माने धैर्य के द्वारा मन को नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है जो मन बहिर्मुखी था अंतर्मुखी प्रतिबल आएगा बुद्धि विशुद्ध होने पर बुद्धि अविशुद्ध है तो धृत्यात्मान धृति मान धैर्य के द्वारा आत्मा मन अंतकरण मन शरीर संघात जितने भी हैं इनको नियंत्रण करके शब्दादि विषय बाहर के जो शब्दादि विषय थे बाहर ही त्याग करके और भीतर आने नहीं देता पहले अशुद्ध काल में बुद्धि शुद्ध नहीं थी तो बाहर के कचरों को भीतर लाता था वृत्ति बनाता था शब्दाधिकार वृत्ति अब नहीं करेगा शब्दादि विषय तत्व राग दोष विदेश भीतर जो राग और द्वेष पड़े हुए हैं अंतकरण में उसको भी उखेड़ के फेंक देता है इसका बुद्धि शुद्ध होने के पश्चात उसके बाद उसको समाज अच्छा नहीं लगता विद्युत से भी कहा हुआ है एकांत देश के सेवन करने की इच्छा होगी वहां जाएगा रहेगा नदी के किनारा आदि हो पर्वत की गुहा आदि हो जैसा हो एकांत जहां हो लघुवासी भोजन कम करता है ज्यादा भोजन करने से आलस्य आदि निद्रा आदि आ जाते हैं साधना नहीं हो पाएगी लघुवासी लघु आसनम अशी तुलसी लगे थोड़ा खाना जिसका स्वभाव बन गया परिमित अपने शरीर के जितने से हित हो और जितने से पुष्टि होती हो उतना ही रहता है अधिक नहीं का आयमान से मन वाणी शरीर को नियंत्रण किया है जिसने ऐसा हो उसके बाद अहंकार हम जो देहादि में अहम अहम होता है थोड़े शरीर में सूक्ष्म शरीर में अहम होता है मैं देखने वाला हूं सुनने वाला हूं चलने वाला हूं फिरने वाला हूं आदि आदि इस अहंकार को त्यागता है बलम जो रागद्वेश रूपी बल है भीतर में एक बल आ जाता है शत्रु को देख करके द्वेष बढ़ जाता है बल आता है मित्र को देख करके राग आसक्ति बल है इनको त्याग करके अच्छा, अहंकारम बलम दर्पम किसी विषय के द्वारा हर्षित होने पर प्रमाद के कारण कुछ घमंड कर जाता है वो भी त्याग है घमंड नहीं है काम विषयों की इच्छा क्रोधम विष्णु तो विषयों की इच्छा में जो कुछ विघटन होने पर क्रोध रूप से पैदा होना है यह सबको त्याग देता है विभुच्य सबसे मुक्त होता हुआ इस सबसे अहंकार आदि से मुक्त होकर ब्रह्म या निर्ममा शांत तो शरीर आदि में ममता नहीं है देह देह आदि में ये मेरा घर है मेरा शरीर है कोई ममता नहीं ऐसी तो लोग जाते हैं साधन के माध्यम से तो निर्ममा शांत शांत होता हुआ ब्रह्म भूयाय कल्प ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है उस काल में मानी जीवत्व को परित्याग कर ब्रह्म भाव में पहुंचने के सामर्थ्य आ जाता है उसका ये सब साधन होने पर महावाक्य सुना हुआ है ये साधन अपने पास है केवल महावाक्य मार्ग से काम नहीं चलेगा भूमि जब तक उर्वरा नहीं होगी तब तक बीज डालने से फसल आएगा नहीं भूमि को उर्वरा कर रहा है तो भूमि उर्वरा करने के साधन है अंतकरण रूपी जो भूमि है उसको शुद्ध करने के साधन है शुरू में ही होता है वर्णाश्रम भेद कर्म वहां से शुरू होता है तो यह सब कर ब्रह्म भूया कल्पत का ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है कहा जब ब्रह्म भाव में पहुंचेगा जीव भाव को परित्याग करेगा ना हम जीव इत्यादि भाव में जाएगा अहम ब्रह्माष्ट में पहुंचेगा तो क्या होता है आगे बोलते हैं उसका परिणाम यही है ठीक है कहा अपेक्षितम पूरा उत्तर सुलभ होता है आगे के श्लोक पूर्व श्लोक के साथ में उत्तर श्लोक आगामी श्लोक के लिए जो अपेक्षित हैं उसको पहले पूरा करते हुए आगे के श्लोक को अवतरण देते हैं कहा हुआ है अनेरा कर्म क्रम यही है बुद्धिया विशुद्ध है तो इत्यादि कहा हुआ है जो तीन श्लोक में कहा गया क्रम है एक क्रम से चलते चलते ब्रह्म भाव में पहुंच जाता है क्या हो जाता है जीव भाव में था अब ब्रह्म भाव में पहुंचेगा भावना बदल जाती है सही है था तो जीव ब्रह्म ही था किंतु अंतकरण की सफाई के अभाव के कारण से अपने को जीव मान के बैठा हुआ था था तो ब्रह्म ही था तो अनेक कर्म ये क्रम पूर्वक तो जो तीन श्लोक में कहा गया क्रम है ये क्रम के द्वारा ये कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समेश भूतेषु मदभक्ति लभते परा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा ब्रह्मभूतः ब्रह्मस्वरूपः सन् ब्रह्म प्राप्त है अर्थ होगा अब ब्रह्म भाव को जो प्राप्त हो गया पूर्वोक्त साधन के माध्यम से प्रसन्न आत्मा जीव और स्वच्छ हो गया प्रसन्न हो गया आत्मा जिसका जीव आत्मा जिसका स्वच्छ हो गया ब्रह्म भाव होने पर जीवों में जो काम क्रोध आदि मल हट जाते हैं समाप्त हो जाते हैं तो स्वच्छ हो जाता है प्रसन्न होता है आत्मा प्रसन्न आत्मा स्वच्छ हो गया जीव जो मैंने उपाधि को हटा करके स्वच्छ हो गया उपाधि नहीं है प्रसन्न हो गया आत्मा जिसका आत्मा मैंने जीव था जो पूर्व क्षण में जीव कहलाता था उपाधि को त्याग दिया ब्रह्म भाव पहुंचने पर न सोचते न काम उस काल में किसी का शोक भी नहीं करता किसी विषय को लेकर इच्छा भी नहीं करता माने इष्ट वियोग अनिष्ट की प्राप्ति में शोक होता है इष्ट वियोग हो या अनिष्ट की प्राप्ति हो ये दोनों शोक देने वाले होते हैं मन में एक संताप पैदा होता है इष्ट का वियोग होने पर इष्ट वस्तु का वियोग होने पर अथवा अनिष्ट की प्राप्ति होने पर उस काल में शोक नहीं करता उसका इष्ट अनिष्ट विषय समाप्त हो गए है जब शरीर भाव में था जीव भाव में था तब शोक होता था इष्ट वियोग के कारण अनिष्ट प्राप्ति के कारण शोक होता था किंतु अब नहीं है न सोचती शोक नहीं करता किसी को भी इष्ट वियोग के लिए भी शोक उसको इष्ट ही नहीं उसके दृष्टि में कोई संसार की वस्तु और अनिष्ट भी नहीं जो अनिष्ट की प्राप्ति हो इष्ट का वियोग हो इष्ट भी नहीं है उस काल में न कांक्षती इष्ट की इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करता अनिष्ट वियोग की इच्छा भी नहीं करता अनिष्ठा प्राप्त हो गया तो वियोग हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता और इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है यह फल होता है उसका जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा भाव में पहुंचा हुआ प्रसन्न हो जाता जीव अभी ब्रह्मभाव में पहुंचता उपाधि को हटा कर राम प्रमाश भाव पहुंचता है तो न सोचते न कांक्षते किसी इष्ट वियोग के कारण होने वाले जो शोक अनिष्ट प्राप्ति के द्वारा होने वाला शोक अब नहीं करता न सोचती इष्ट अनिष्ट वस्तु रहे ही नहीं उसके पास स्थिति ऐसी है न क्षति न तो इष्ट वस्तु की इच्छा करता है न अनिष्ट के वियोग की इच्छा करता है दोनों नहीं क्यों दोनों नहीं है न सोचते न क्षति समा सर्वेश भूतेश कहा सभी प्राणियों में समता समरूप से दिखता है जैसे अपने में जैसा सुख की इच्छा होती है दुख न हो तो सबके लिए यही सोचता है समान रूप से देखता है ष्टाध्याय में बोल के आए थे आत्मों को मैंने सर्वत्र समम पश्चिम अर्जुना सुखम यदि बात दुखम सहयोगी परम होता है सबसे बड़ा योगी मैं इसको मानता हूं कहा भगवान भगवान हाँ। अपने उपमा दे करके जो सुख दुख दूसरे के सुख दुख को समझता हो मुझे जिस वस्तु से दुख होता हो अन्य को भी इससे दुख होता है वो काम दूसरे से डकार ऐसे साधन न अपनाए दूसरे को कष्ट हो अथवा तो, जिस वस्तु से मुझे सुख मिलता हो वो दूसरे को पहुंचाने की कोशिश करें वही योगी को सबसे बड़ा योगी मानता हूं करके भगवान ने कहा था षष्ठ अध्याय में आत्मा न सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि दुखम अपने उपाधेय करके माने सुख दुख को दूसरे में देखता हो वही परम योगी कहा वही यहां भी है समा सर्वेश भूतेशु मद भक्ति में लगते पराम मेरे भक्ति प्राप्त करता है सभी भूतों में ऐक्य भक्ति प्राप्त करता है भेद दृष्टि समाप्त करता है ऐक्य भक्ति पराम भक्ति माने ज्ञान निष्ठान भक्ति में ही होता है यहाँ परा भक्ति चार प्रकार के भजन की भक्ति की चर्चा हो गई सप्तम अध्याय में चतुर्विदा भजन देवाम जनाशुर्जुना आर्तो जिज्ञास ज्ञानी का भरतर सब चार व्यक्ति मेरे भजन करते हैं एक आर्त किसी कारण से परेशानी हो सिंह व्याजवादी आदि के द्वारा परिस्थिति खराब हो रखी हो उस काल में भगवान याद आ जाते हैं सबको अपने से ऐसा बड़ा शत्रु है अपने से हटाया नहीं जाता ऐसी स्थिति में भगवान याद आते थे प्राप्त भक्त वो कोई भगवान प्राप्ति के लिए नहीं केवल वो जो परिस्थिति थी उसे निपटारा के लिए भगवान के प्रार्थना करता है भगवान का भक्त माना जाता है एक प्रकार का भक्त और सब दूसरा ही जिज्ञासु भक्त तो होता है भगवत तत्व को समझाने की इच्छुक भगवान क्या है कैसा है किसको भगवान कहते हैं भगवान भगवान बोला जाता है क्या है भगवान क्या विषय कैसा है साकार है निराकार है सगुण है निर्गुण है नाना प्रकार के विचार करता है उसको जिज्ञासु कहा ज्ञातुम इच्छुक जिज्ञासु जानने के इच्छुक को जिज्ञासु कहते हैं तीसरा होता है अर्थार्थी मैंने विषय चाहता है किंतु भगवान से चाहता है किसी अन्य का आत्मा अन्य के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं भगवान से चाहेगा जैसे ध्रुव थे विषय चाहते थे तो अर्थार्थी और एक ज्ञानी भक्त का है ज्ञानी जब भक्त सभा तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्त विशेष कहा था उन चार प्रकार के भक्तों से ज्ञानी भक्त सबसे बड़ा ऐक्य भाव से चलता है क्या चलता है द्वैत भाव समाप्त कर जाता है वो अन्य में द्वैत भाव है तीनों में इसमें द्वैत भाव नहीं है एक भक्त विशिष्ट इत्यादि कहा था यही कहना है <clears throat> ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति है जीवत्व तो समाप्त हो गया उपाधि समाप्त करके पहुंचा हुआ है पूर्वोक्त साधन के माध्यम से वहां प्रसन्नात्मा वो जीव प्रसन्न होता है उस काल में जो उपाधि के कारण कलुषित था वो दूषित हो रखा था उपाधि हटा के हम देह नवे देह में पहुंचा हुआ है हम ब्रह्मास्म भाव में है तो प्रसन्न वाला प्रसन्न आत्मा वाला होता है वो न सोचते न कांक्षते किसी विषय को लेकर शोक भी नहीं करता इस मान इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्ति के शोक नहीं अथवा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग के लिए इच्छा भी नहीं करता समाज सर्वेशु भूतेश सभी प्राणी मात्र में मदभक्तिम लभते पराम पराम मदभक्तिम लभते कहा जो चतुर्थी भक्ति है ज्ञान भक्ति ज्ञान रूपा भक्ति अद्वैत भक्ति उसको प्राप्त करता है अद्वैत भाव से संपूर्ण जगत को देखता है कहा है भाष्य में कहते हैं ब्रह्मभूतो मन ब्रह्म प्राप्त ब्रह्मभूत का अर्थ ब्रह्म प्राप्त जब प्रभाव में प्राप्त हो गया कौन पहले जीव भाव में था पूर्वोक्त साधन और महावाक्य है महावाक्य के सहयोगी साधन बुद्धिया विशुद्धि आदि उसके किसके द्वारा वर्णाश्रम कर्म के भेद कर्म के द्वारा ब्रह्म प्राप्त प्रसन्नात्मा माने लब्ध अध्यात्म प्रसाद अध्यात्म आत्मा है इसे प्रसन्न हो गया माने प्रसाद अपने आप कृपा प्राप्त हो गया इसको न सोचती किंचित अर्थवाई के लम कहा किसी विषय के विकलता आने पर शोक नहीं करता कोई भी विषय में विकलता हो गई अनिष्ट हो गया तो शोक नहीं करता आत्मनो वैगुण्यम तो उद्देश्य है अथवा अपने में कोई वैगुण्य आ गया विगुणता आ गई उसको लेकर के भी नहीं शोक नहीं करता न सोच अधिकार न संपत्ति संतप्त थे संताप नहीं करता न कांक्षति इष्ट के प्राप्ति अनिष्ट के वियोग की इच्छा भी नहीं करता ब्रह्मभूत से अयम स्वभाव ब्रह्म बना हुआ जो व्यक्ति ब्रह्मभाव में पहुंचा हुआ का यह स्वभाव है उसका स्वभाव ऐसा होता है उसका उस काल में किसी के विषय में शोक भी नहीं किसी विषय की इच्छा भी नहीं उसका स्वभाव ही ऐसा होता है न सोचते न कांक्षित जो है इसका स्वभाव है ब्रह्म स्वरूप बना हुआ जो व्यक्ति है उसका स्वभाव है कहा न ये अप्राप्त विषय आकांक्षा प्रमित हो कोई वस्तु प्राप्त न हो अप्राप्त हो उसके विषय की इच्छा ब्रह्म स्वभाव ब्रह्मवेत्ता को नहीं होता अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं होती जो अप्राप्त वस्तु है ही नहीं उसके कोई वस्तु ही नहीं है न हृष्यति यदिवा पाठ अथवा न हृष्यति न सोचती न हृष्यति ऐसा कांक्षति के सामने हृष्यति भी है शोक नहीं करता हर्षित भी नहीं होता इसी अर्थ लिख सकते हैं तो कांक्षति के सामने हृष्यति ऐसा पाठ भी कहते हैं पाठभेद है समा सर्वेश भूतेश कहा कैसे समान देखना सभी प्राणियों में समान कैसे सभा सर्वेश पर मैंने अपने उपमा देकर के मुझे जो सुख होता है जिस विषय से उसको भी सुख होता है और मुझे जिस विषय से दुख होगा उसको भी दुख होगा किसी अपने गले में चाकू घोपना अच्छा नहीं लगता किसी को भी तो दूसरे के गले में वो काम नहीं करेगा सुख दुख समान देखता है यह अर्थ होता है पर मैंने सर्वेश भूत अपने उपमा दे करके आत्मा ही उपमा है जिसकी स्वयं सादृश्य है आप आत्मा ही उपमा है जिसके आत्मा पर मैं सर्वेश भूतेशु सुखम बा सुखम दुखम बा चाहे सुख हो चाहे दुख हो अपने उपमा देखा समम एक पश्यती समान देखता है सबके लिए समान देखता है समता देखता है कहा न आत्मदर्शन यह आत्मज्ञान नहीं है हाँ मैं सम सर्वेश भूतेशु का आत्मज्ञान की चर्चा नहीं है आत्मज्ञान के लिए तो अगले श्लोक में कहेंगे कहते हैं यह तो समान देखना ही है यह आता है यही है न आत्मदर्शन यह इस श्लोक में आत्मदर्शन की चर्चा नहीं है चौवन नंबर के श्लोक में आत्मज्ञान की चर्चा नहीं है तस् भक्षमाण तद तस्य माने आत्मज्ञान वो तो भक्षमाण अगले श्लोक में कहेंगे पचपन नंबर के श्लोक में भक्षमाण भक्त्यामाम अभिजानाते भी सुन का आएगा भक्त्यामाम अभिजानाते यस्मान यावान यश तत्व तत्वम तत्व तो ज्ञान तो अभिषेक वो तो ज्ञान के आत्मज्ञान के लिए तो वहां आने वाला है यहाँ तो समान दर्शन ही है यहाँ समदर्शन का है अर्थात ब्रह्म दर्शन नहीं यहां समदर्शन ये कहा हुआ है तस्य बने आत्मदर्शन जो होगा आत्मज्ञान उसका तो यही है बक्षमाणत्वाद आगे कहे जाने वाला अगले स्वरूप में है ये भक्ति माम अभियान के श्लोक आने वाला है वहां है आत्मदर्शन एवं भूता इस प्रकार के व्यक्ति है समस्त सर्वेश भूतेशु आया हुआ है माने ब्रह्मभूत आत्मा न सोचते नकांक्षति सम सर्वेश भूत इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति एवं भूतो ज्ञान निष्ठ हो इस प्रकार ज्ञान में निष्ठा है जिसके अभिज्ञान में निष्ठा है इस व्यक्ति मत भक्ति मम मई भक्ति मम मत भक्ति मेरे में भक्ति वाला होगा मई परमेश्वरी भक्ति मैंने भजन मैं जो परमेश्वर हूं ना भाव से हूं उसमें भजन भक्ति माने भजन पराम उत्तमाम ज्ञान लक्षण जो परम भक्ति का उत्तम भक्ति कौन ज्ञान लक्षण जो चार प्रकार के भजन में उत्तम है जो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी की अपेक्षा ज्ञानी है वो ज्ञान रूपी भक्ति है ज्ञान लक्षणाम चतुर्थ में लगते चौथी भक्ति है पहले वाले तीन को छोड़ देना सप्तम अध्याय में कहा हुआ तीन को छोड़कर जो चौथी चतुर्थ भक्ति है चतुर्थी है प्राप्त करता है क्यों चतुर्विधा भजनते माम यदि उत्तम पहले कहा सप्तम अध्याय में चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृतरोजुना आत्म जिज्ञास खाते ज्ञानी से भरतर सब कहा हुआ है ये, उत्तम पूर्व में कहा ये बात ठीक है मैं देखें अनेक क्रमण माने क्या बुद्धि विशुद्ध युक्त तो इत्यादि से लेकर चलना है ये क्रम है बुद्धिया विशुद्ध इत्यादि अत्र क्रम यही है अनैन क्रम क्रम क्या है पूर्व तीन श्लोक से चलते आना है यही क्रम से चलते चलते ब्रह्मभूत हो जाता है ब्रह्मस्वरूप हो जाता है यह ब्रह्म प्राप्त हो जीवन एवं निवृत्त अशेष अनर्थ हो निवृत्त से आनंदम ब्रह्म आत्मत्व अनुभव नित्यर्थ ब्रह्मभूत आत्मा ब्रह्म प्राप्त कहा हुआ है माने क्या है उसका अर्थ ब्रह्म प्राप्त जीवन एवं जीवित अवस्था में ब्रह्म प्राप्त है जीवन जीवित जीवन मुक्ति काल में है वो ब्रह्म प्राप्त और जीवन एवं जीते जी ब्रह्म प्राप्त अवस्था में है वो निवृत्त अशेष अनर्थ संपूर्ण अशेष जितने भी अनर्थ थे संपूर्ण नष्ट हो गए जिसके समाप्त निवृत्ति हो गई अनर्थ हो गई निर्देश आनंदम ब्रह्म आत्मत्व अनुभवन निर्देश जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसका आत्मभाव से अनुभव करता होगा ब्रह्म प्राप्त करते ही होता है क्यों जीते जी सारे अनर्थों की निवृत्ति हो गई है उसकी ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति की अनर्थ नहीं रहे जब शरीर आदि नहीं रहे तो अनर्थ कहां से होगा शरीर आदि से ऊपर की स्थिति में पहुंचा हुआ है तो अनर्थ होने की संभावना ही नहीं है ऐसा होता हुआ निर्देश जो आनंद है परमात्मा परमानंद स्वरूप परमात्मा वो जो ब्रह्म है आत्मत्व अनुभव अपने से अभिन्न रूप से अनुभव करता हुआ ये ब्रह्म प्राप्त करता ही है प्राप्त माने द्वैत रूप से प्राप्त नहीं है अद्वैत भाव से प्राप्ति है प्राप्ति की प्राप्ति यहां अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्ति की प्राप्ति जैसे से चाहनी कर न्याय बोले गले के हार का दृष्टांत भूल गया था भूल गया था तो आगे किसी ने उपदेश कर दिया अरे तेरे गले में हाँ मिल गया मिल गया बोलता हार नहीं मिला था मिला था पहले से था ऐसे यहां भी प्राप्ति की प्राप्ति है अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है अध्यात्म प्रत्येगात्मा अध्यात्म कहा था भाष्य में कहा हुआ था लब्ध अध्यात्म प्रसादा कहा था अध्यात्म है ये आत्मा को तो अध्यात्म कहा हुआ है अध्यात्म प्रत्येगात्मा तस्मिन प्रसाद उसमें प्रसन्नता ब्रह्मभूत होने के बाद में उसमें प्रसन्नता हो जाती है जो जीव बाप से मुक्त हो जाता है सर्वानर्थ निवृत्तिया सारे अनर्थ निवृत्त से उसमें प्रसन्नता आ जाती है माने उपाधि विशिष्ट अवस्था में सारे के सारे अनर्थों के घेरे में था वो अनर्थ के साथ था काम क्रोधादि जितने अनर्थ है सबके साथ था उपाधि हट गया ब्रह्मभाव में पहुंचा तो संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति के द्वारा परमानंद आविर्भाव परमानंद का आविर्भाव हो जाता है परम आनंद परम सुख जिसको बोलते हैं आविर्भाव होना आविर्भाव माने पैदा नहीं होना है पहले से विद्यमान था दब गया था अब आविर्भाव हो जाता है अंधेरे में रखा हुआ घट जैसा हो या ना वो लब्ध हो गया जिसने प्राप्त कर लिया जिसने परमानंद आविर्भाव प्राप्त कर लिया जिसने ये जीवन मुक्त है ना जो जीवन मुक्त पुरुष होगा उसके द्वारा तथा तथा हमारे यही है प्रसन्नात्मा लब्ध प्रसाद कहा हुआ लब्ध अध्यात्म प्रसाद कहा हुआ है उस काल में न सोचे भी न कहा हुआ है जब जीव भाव में था उपाधि को लेकर चल रहा था अपने अज्ञान के कारण तब तक तो सारे अनर्थों के घेरे में था वो तो सारे अनर्थों से निवृत्त हो जाता है न सोचते फिर किसी के विषय शोक नहीं करता इष्ट वियोग के शोक भी नहीं अनिष्ट प्राप्ति के शोक भी नहीं उसके दृष्टि से इष्ट अनिष्ट ही नहीं है न सोचती इत्यादो तात्पर्य न सोचते कांक्षति इत्यादि वाक्य उसका तात्पर्य बताते हैं ब्रह्मभूत से इत्यादि कहा हुआ में ब्रह्मभूत से अयम स्वभाव हो अनुवृत्ति न सोचते न कांक्षति आदि क्या है ब्रह्म भाव पर पहुंचे हुए व्यक्ति का स्वभाव है ये स्वभाव ही कहा जाता है न सोचते न कांक्षति आदि प्राप्तव्य परिहार्य अभाव निश्चया नित्यर्थ उसको कोई प्राप्तव्य वस्तु भी नहीं है परिहार्य वस्तु भी नहीं है उसके दृष्टि में माने इष्ट वस्तु की प्राप्ति है ना प्राप्तव्य वस्तु नहीं रहे उस काल में और अनिष्ट वस्तु परिहार्य होता है परिहार के योग्य होता है इसलिए शोक भी नहीं उसको जो परिहार्य वस्तु हो तो शोक होता कैसे इसका परिहार किया जाए और प्राप्त वस्तु हो तो उसके लिए आकांक्षा होती कैसे प्राप्त किया जाए दोनों नहीं है यही है प्राप्त प्राप्तव्य परिहारी अभाव निशा निश्चय हो रखा है मेरे लिए कोई प्राप्तव्य भी नहीं है परिहारी भी नहीं है प्राप्तव्य परिहार्य दोनों के दोनों पूर्व स्थिति की बात थी जब तक उपाधि विशिष्ट अवस्था में था जीवत्व भाव में था तब तक प्राप्त प्राप्तव्य भी था परिहार्य भी था अब नहीं है इसलिए न सोचते न कांक्षती उस स्थिति में यह होता है उसका स्वभाव है स्वभाव स्वभावादम उपवाद स्वभाव का ही अनुवाद जो कहा था उसके सिद्ध करते हैं नहीं इत्यादि कहा विभाषण है नहीं नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा उसकी उस स्थिति में अप्राप्त विषय की आकांक्षा पहले थे विषय अप्राप्त विषय थे आकांक्षा होती थी अब नहीं ब्रह्मविदा देते कहा ब्रह्मविद्ता को यह हो नहीं सकता आगे टीका में है तस्य अप्राप्त विषय अभाव तो हो जो तस्य मैंने ब्रह्मविद ब्रह्मविदा हो जो ब्रह्मविद्ता है ना ब्रह्मभाव में पहुंचा हुआ है उसका अप्राप्त विषय अभाव अप्राप्त विषय है ही नहीं उसके पास ना भी परिहार्य अपरिहार प्रयुक्त परिहार्य विषय भी नहीं उसके लिए तो परिहार से युक्त हो प्रयुक्त हो शोक परिहार के कारण होने वाला शोक भी नहीं तो परिहार्य वस्तु नहीं उस स्थिति में शोक परिहार्य से अभाव परिहार से एवं अभाव परिहार्य वस्तु ही नहीं उसके लिए इसलिए शोक भी नहीं होगा इसका स्वभाव ऐसा होता है कहा पाठांतर है तो पाठांतर में नहृष्यति ऐसा पाठ भी है कहेंगे गीता में मूल में न स्थान में नहृष्यति है न सोचती नहृष्यति ऐसे पाठ है तो पाठांतर हेतु जो पाठांतर अन्य पाठ है मूल में न कांक्षति के स्थान पर नहृष्यति पाठ है तो हाँ क्या करना रमणीयम प्राप्य नहृष्यति तो रमणीय सुंदर पदार्थ प्राप्त कर हर्षित भी नहीं होता ऐसा करते अर्थ करते तो नहृष्यति यदि पाठ हो तो क्या करना रमणीय जो प्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करके हर्षित भी नहीं होता ऐसा था पदार्थन तत्व रमणीय प्राप्य न प्रमोदते मुझे हर्ष धातु है प्रमोद को प्राप्त नहीं होता हर्षित नहीं होता तद अभाव क्यों रमणीय पदार्थ नहीं उसके दृष्टि में यदि रमणीय पदार्थ होता तो प्रमोद का विषय बनता हर्ष का विषय बनता विषय नहीं एक विवाद द्वितीय में पहुंचा हुआ होता है किस स्थिति होता है हाँ, वह द्वैत वस्तु दूसरी वस्तु होते ही नहीं स्थिति विवक्षितम समदर्शन विवक्षित सब समदर्शन के विवक्षा करते हैं समस्त सर्वेश भूतेश मधुभक्त लौटे परम क्या होगा है तो समदर्शन के विस्तार करते हैं आत्मा इत्यादि का माने आत्मोपम्यन सर्वेश भूतेश सुखम दुखम का समन्वय अर्थ है यही अर्थ है इसका समम सर्वेश भूतेश करता अपने उपमा दे करके मेरे लिए जिस वस्तु के द्वारा सुख होता हो अन्य के लिए भी सुख बुद्धि होनी चाहिए और मेरे लिए जिससे दुख होता है अन्य को भी दुख होगा वो कार्य उसके साथ न करें यही है समदर्शन समदेखना सब में यही होता है ये कहा था आत्मोपम्य सर्वेश भूतेषु सुखम सुखम दुखम बा समम एवं पश्यति इति अर्थ यही अर्थ है इसका समान देखता है कहना का ठीक है मैं कहते हैं हम सर्वेश भूतेषु आत्मन समस्य निर्विशेष दर्शनम अत्र अभिप्रेतम तीव्र से नो सर्वे सुभूतेश आत्मा में समस्या द्रव्य सम ही ब्रह्म को सम कहा हुआ है तो ब्रह्म दर्शन क्यों नहीं कहा जा रहा ये कहते हैं तो सर्वेश आत्मा आत्मना समस्या ब्रह्म निर्विशेष है जो निर्विशेष सम है ना निर्विशेष ब्रह्म तो समान रहता है इसलिए निर्विशेष दर्शन मात्र अभिवृतम जिनमें से वही दर्शन यहां क्यों ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं माना जाए उसको समदर्शन क्यों नहीं माना जाए सुख दुख को समान देखना क्यों कहना है श्लोक में समा सर्विस भूतेश में ब्रह्म दर्शन क्यों नहीं हुआ निर्दोष अभी समम ब्रह्म तस्मात प्रवृत्ति स्थित निर्दोष ही समम ब्रह्म सम ब्रह्म निर्दोष होता है कौन ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म पहले कहा हुआ है तो सम शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म क्यों नहीं जा किया जाए सर्वत्र ब्रह्म दर्शन क्यों नहीं किया जाए ये प्रश्न उठा तो उसके उत्तर कहते न न आत्मदर्शन यह यहां आत्मदर्शन नहीं कहा इस श्लोक में मान चौवन नंबर के श्लोक में समझ सर्वेश हुए आत्मदर्शन की चर्चा नहीं है ब्रह्मदर्शन की चर्चा नहीं है या तो सुख दुख समान देखना आता है क्यों तो तस्य बक्षमात्मा आत्मदर्शन तो अगले श्लोक में कहेंगे बक्षमाण है आगे कहे जाने वाला है भक्त अमा भविजाना थी इस श्लोक में कहेंगे जो आगामी श्लोक में उसे बोला ब्रह्मदर्शन ठीक है मैं कहते हैं उक्त विशेषण हो तो ये सारे विशेषण ब्रह्मभूत हो प्रसन्नात्मा हो शोक अभिशापिन हो सम सर्वे सुभूत में समान हो सभी सुख दुख के समान देखता हो उक्त विशेषण हो तो ऐसे विशेषण वाला जो होगा ना व्यक्ति वहां जीवन मुक्त विशेषण वाला जीवन मुक्त पुरुष है वहां ज्ञान निष्ठा प्राप्त उत क्रमेण प्राप्त जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त हुई है पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त थी वर्णाश्रम कर्म के द्वारा उसके बाद उसके आगे जाकर ज्ञान निष्ठा हो गई ज्ञान निष्ठा के द्वारा ब्रह्म दर्शन होना है उक्त विशेषण तो पूर्वोक्त जो विशेषण वाला जो व्यक्ति है उसका जीवन मुक्त से जो जीवन मुक्ति अवस्था में है उसका ज्ञान निष्ठा जो ज्ञान निष्ठा है ज्ञान में स्थिति नितराम स्थिति निष्ठा निरंतर रहना प्राग उक्त क्रमण पूर्वोक्त क्रम के द्वारा प्राप्त सुप्रतिष्ठता भवती का ज्ञान निष्ठा सुप्रतिष्ठित हो जाती है कौन ज्ञान निष्ठा पूर्वोक्त विशेषण वाला जो व्यक्ति होगा उसका एवं भूत इत्यादि एवं भूतो ज्ञाननिष्ठ हो इस प्रकार के जो ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति है मद भक्तिम माने मई परमेश्वरी भक्तिम मद भक्तिम सप्तम समास कर देना मेरे में भक्ति है जिसकी मेरे में ही भक्ति है अन्यत्र नहीं परमेश्वर में ही भक्ति है सप्तमी समास है मई परमेश्वरी भक्ति माने भजनम भजन है जिसका सेवनम सेवन मेरे में होना चाहिए पराम उत्तमाम ज्ञान लक्षण चतुर्थम लभते कहा जो परम उत्तम भक्ति प्राप्त करता है कौन ज्ञान लक्षण जो चार प्रकार के भक्ति में ज्ञान क्यों चतुर्विधा भजनते मान यदि उत्तम पूर्व में कहा युवा सप्तम अध्याय कहा हुआ है ये कह रहे हैं ठीक है वो कहते हैं श्रवण मनन ध्यान बता ये क्रम यही है एवं क्रमेण क्रम यही होता है माने श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से सुनो समझो करो जो बोलते हैं तो तीन वाक्य यही होता है श्रोतव्य मंतव्य निर्दिष्टव्य सुनो समझो करो जिस विषय जानकार में सुनना पड़ेगा पहले जानकार व्यक्ति से सुनना होगा आचार्यवान पुरुषों द्वारा कहा हुआ है सुनने के बाद में समझना होगा क्या कहा समझना पड़ेगा उसके बाद करना होगा केवल सुनने मात्र से भी समझने मात्र से करना भी पड़ेगा उसको तत्परता से करना पड़ेगा उसको निर्ध्यासन कहते हैं यही है श्रवण मनन निध्यासन बता जो श्रवण मनन निध्यासन तीनों साधन से युक्त व्यक्ति है उसका समाधि युक्त से समाधि भी है समदमादि से युक्त है समधमा उभरत प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान ये सब लेके बैठा हुआ है साधन है समाधि युक्त से अभ्यस्त ही श्रवणादि बार बार श्रवणादि एक बार के श्रवण से काम नहीं चलेगा सेतु केतु जैसा मैंने इतने विद्वान को नौ बार उपदेश करना पड़ा है दृष्टांत बदल बदल करके बहवा श्रोतव्य बहुव्य श्रोतव्य ऐसा आता है बहुतों से सुनना चाहिए और बहुत सुनना चाहिए ऐसा श्रुति में कहा है हाँ, एक बार सुनने से काम नहीं चले भूल सकता है सूक्ष्म विषय है बहवा श्रोतव्य बहुव्य श्रोत बहुतों से सुनना चाहिए माने एक आचार्य से पूरा ना हो तो दूसरे भी सुनना चाहिए ऐसा कहा गया है तो ये बोल रहे हैं श्रवण मनन ध्यासन बताओ तो श्रवण मनन ध्यासन जिसने कहो चुका है ऐसे व्यक्ति है उसका समाधियुक्त से समदमादि साधन से युक्त है समादमा उपरते तितिक्षा श्रद्धा समाधान जो हुई है जो साधन चतुष्ट में आते हैं ये सब हो जिसमें अभ्यस्त सर्वणादि जो बार बार सर्वणादि का अभ्यास की हुआ है सर्वण मनन निध्यास आदि का अभ्यास है उनके द्वारा ने अपरोक्षम मोक्ष फलम ज्ञान से ब्रह्मात्मा भाव जीवात्मा परमात्मा ऐक्य को ब्रह्मात्मा बोला गया उसमें अपरोक्षम मोक्ष फल अपरोक्ष जो मोक्ष फल है ज्ञान सिद्धि तो मोक्ष जिसका फल है अपरोक्ष है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान ऐसे ज्ञान सिद्धि सिद्ध होता है जो सर्वाधि बार बार करा हो सर्वण ध्यासन और समाधि साधन से युक्त हो केवल सर्वाधि करने मात्र से काम नहीं चलेगा समाधि होना चाहिए मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह सम माने मनोनिग्रह होना चाहिए दम माने इंद्रिय निग्रह होना चाहिए अतिथिक्षा उपरत विषयों से वैराग्य होना चाहिए सहन करने की शक्ति होनी चाहिए सुख मानी भूख प्यास आदि में सुख दुख आदि में ऐसी स्थिति है श्रद्धा मानी इसमें एक श्रद्धा विश्वास होना चाहिए समाधान एकाग्रता भी चाहिए ये सब साधन अपने जीवन में होना चाहिए तब सर्वादि तीनों किया हो सर्वण मन व्यासन तो जीवात्मा परमात्मा को जो ऐक्य ज्ञान है जो मुख्य फल देने वाला है कैसे ज्ञान होता है जिसका फल संसार से मोक्ष मना है प्रसिद्ध सिद्ध होता है कहा श्रवण मनोनिध्यासन होता समाधि युक्त समाधि से युक्त है समाधि साधन से युक्त है अभ्यस्त श्रवणादि में जो अभ्यास किया है श्रवणादि जिनका बार बार किया अभ्यास है उनके द्वारा ब्रह्मात्मा ने जो जीवात्मा परमात्मा ऐक्य है ब्रह्मात्मा उसमें अपरोक्षम फलम मोक्ष फलम अपरोक्ष क्या मोक्ष फल सिद्ध हो जाता है ज्ञान में सिद्ध ऐसा ज्ञान जिसका फल मोक्ष होता है अपरोक्ष ज्ञान वही सिद्ध होता है कहा आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षा ज्ञान लक्षणा भक्ति चतुर्थी उगता भाष्य में चतुर्थी लभते कहा ज्ञान लक्षण चतुर्थी लभ्यते कहा हुआ लभते कहा प्राप्त करता है तो क्या है वो आर्तादि जो तीन प्रकार के भक्तों की चर्चा थी भक्ति की अपेक्षा सप्तम अध्याय में चार प्रकार की भक्ति की चर्चा है तो आर्तादि जो तीन है उन भक्त त्रय की अपेक्षा से ज्ञान लक्षणा भक्ति जो ज्ञान स्वरूपा भक्ति है चतुर्थी युक्ता चतुर्थी करके कहा गया तत्र सप्तमस्थ वाक्य अनुकूल है थे सप्तम अध्याय जो वाक्य था चतुर्विदा भजनते बाम जना सकृतर्जुन इत्यादि कहा था तो वही वाक्य का अनुकूल करते हैं चतुर्विदा भजनते बाम इत्यादि कहा यही है नो समाधि साध्य न पर्व पर्व भक्त्यात्मक न ज्ञान न किम अपूर्वम अप्राप्य प्रश्न आता है क्या समाधि साध्य जो ज्ञान है माने समा सर्वेश भूतेशु कहा हुआ है समाधि होने के बाद ज्ञान होगा कहा हुआ जब तक समता नहीं जाओगी सर्वत्र प्राणी एकता नहीं देखेगा समता नहीं देखेगा अपने उपाधि करके सुख दुख समान नहीं दिखता हो तब तक वो ज्ञान होना संभव नहीं है आत्मज्ञान होना संभव नहीं है ननो समाधि साध्य न समाधि बने समाधान एकाग्रता आदि साध्य न परम भक्ति जो परम भक्ति कहा हुआ है ज्ञान समाधि के माध्यम से होने वाला समबुद्धि के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है किम अपूर्व अपूर्व क्या प्राप्त होगा जो पहले नहीं था वो प्राप्त होना अपूर्व अपूर्व की प्राप्ति क्या होगी वहां ज्ञान के द्वारा ये प्रश्न उठता है तत्रह कहा ततः ज्ञान लक्षण या जो ज्ञान होगा ज्ञान लक्षण भक्ति से क्या प्राप्त होगा कहते मेरे स्वरूप उपाधि रूप में जैसा है सब दिखता है उसको ज्ञान के द्वारा दिखता है और निर्विशेष रूप को भी जानता है सोपाधिक निरुपाधिक दोनों स्वरूप को जानता है हम्म। पहले सोपाधिक स्वरूप को जानेगा सर्वत्र परमात्मा ही है हम्म। ये मनुष्य आदि कल्पित है जो भी पदार्थ देते थे कल्पित है जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है उस प्रकार संसार में परमात्मा ही है परमात्मा में कल्पित है उपाधि रूप जैसे सोने में कल्पित होता है आभूषण जितने भी आभूषण होते हैं वो है सोना किंतु अज्ञानी के सोने को नहीं जानता वो व्यक्ति आभूषण को जानता किंतु तो, तो आभूषण को जानने वाला अज्ञानी है सोने को जानने वाला ज्ञानी होता है उसमें ठीक इस प्रकार लोहे को जानना माने औजारों में लोहा दृष्टि से समझना ज्ञान होता है औजार दृष्टि से देखना नाम रूप है लोहे के आकार बना दिया है नाम रख दिया भिन्न भिन्न नाम रख दिया लोहा होता है इसमें स्थिति आती है तो इसी प्रकार यहां भी ये समझना चाह, कहना चाहते हैं तो अपूर्व क्या प्राप्त होता कहा तो कहते तत्व ज्ञान लक्षण जो ज्ञान लक्षण भक्ति आ गई ना उसके बाद परमात्मा के स्वरूप को जानता है सोपाधिक स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप दोनों जानता है सविशेष निर्विशेष दोनों स्वरूप को जानता है कहना है ये कहना है भक्त्या माम अभिजानाति यस्मान यस्माशु तत्व तथो मां तत्तो ज्ञावा विशते तदनंतरम सत्यामान अभिजानाति यावान यशास्ति तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञावा विशते तदनंतरम भक्त्या वो ज्ञान रूपी जो भक्ति है ज्ञान लक्षणा भक्ति के द्वारा भक्त्या ज्ञान को भी भक्ति शब्द से कहा गया तो सप्तम अध्याय के वाक्य से आता है भक्त्या माम अहम परमात्मा माम मैं जो परमात्मा अस्मत शब्द है भगवान बोल मेरे को माम अभी आते जानता है जो व्यक्ति भक्ति से मेरे को जानता है ज्ञान लक्षणा भक्ति कौन सी भक्ति ज्ञान से जानता है ज्ञान लक्षण भक्ति है जो सप्तम अध्याय की चतुर्थ भक्ति यावान जितने परिमाण का मैं होगा यावान जितने परिमाण वाला मैं होगा यदत परिणाम बतुक पत्र प्रत्यय लगा हुआ यथ शब्द से बतुक लगा करके यावान यावान तावान यथावान इत्यादि बोला जाता है यश्चास में जो मैं हूं जैसा स्वरूप मेरा है तत्पता वास्तव में जो मैं हूं और यावान से उपाधि विशिष्ट जितने मैं होता हूं और तत्वतः यश्चास वास्तव में मैं जो हूं मैं निर्विशेष रूप पहले सविशेष रूप को जानता है बाद में निर्विशेष रूप को जानता है कहना है तत्वमान तत्व ज्ञातवा है वास्तविक रूप से निर्विशेष रूप को जान करके तत्वता मैंने निर्विशेष रूप से जानकर माम ज्ञातवा मन को जानकर विशते तदनंतर उसमें मेरे में प्रविष्ट होता है ऐ ऐक्य भाव में रह जाता है द्वैत भाव में नहीं रहेगा उसके अनंतर मैं निर्विशेष रूप को जानकर निर्विशेष हो जाता है ही बनेगा सभी से नहीं हो सकता स्थिति है ठीक है भक्त्याम आती भाषण कर रहे हैं भक्ति ज्ञान रूपी जो भक्ति है ज्ञान लक्षणा भक्ति उसके द्वारा मेरे को जानता है वो साधक यावान जितने परिमाण का मैं उसको मेरे स्वरूप को जानता है ठीक है यावान अहम उपाधि कृत विस्तार हो यावान का अर्थ जो उपाधि के कारण से विस्तार भेद जो मैं होता हूं सारा संसार रूप में दिख रहा हूं मैं उपाधि के कारण से अनेक प्राणी के रूप में दिख रहा हूं मैं जैसे रज्जु अज्ञान के कारण अज्ञान रूप उपाधि से सर्व रूप में दिखना जितने परिमाण वाला मैं होता सारा संसार मेरे ही स्वरूप है उपाधि के द्वारा देखने वाला रूप देखा जाने वाला रूप रहा व्यावान का अर्थ अहम उपाधि कृत विस्तार भेद अहम जो उपाधि के कारण से विस्तार है मेरा भेद जो उसको और यश अहम विध्वस्त सर्वोपाधि भेद जहां कोई उपाधि नहीं है निर्विशेष स्वरूप उसको भी उत्तम पुरुष जिसको पंद्रह अध्याय में उत्तम पुरुष शब्द से कहा था द्वाभिमो पुरुष अवलोके सरसा क्षय क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उसके उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा उदाहरण तीन पुरुष की चर्चा हो गई पंचदश अध्याय <clears throat> इस श्लोक में माने ब्रह्मलोक तक कितने हैं दो प्रकार के पुरुष हैं कहते हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कार्य वर्ग जितने भी क्षर पुरुष कहते हैं और कारण जो होता है वो अक्षर पुरुष कहा गया ईश्वर जिसको बोलते हैं अक्षर पुरुष कहा गया और कार्य वर्ग जितने भी हैं ये क्षर पुरुष कहा गया क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर कूट में जो स्थित है माया में जो स्थित है कौन ईश्वर शब्द से कहा जाता है जिसको माया विशेष चेतन वो होता है अक्षर पुरुष किंतु ये दोनों से भिन्न एक पुरुष है मेरा शुद्ध स्वरूप होता है उत्तमा पुरुष स्तन्य परमात्मा ये लोक त्रयमा विश्व विभक्त वेश्वर पंचम अध्याय बोल के आए थे वही है यहाँ तो भक्ति अमाम अभियान दो पुरुष के चर्चा यहां कर दी है दोनों स्वरूप को जानता है उपाधिकृत भेद विशेष को भी मेरा स्वरूप है वो जानता है और निरुपाधिक स्वरूप को भी जानता है कहना है भक्ति आमाम अभियान आती यावान जितने बड़ा चौड़ा मैं हूं सारा संसार मेरे रूप होता है उपाधि को लेकर अहम उपाधि के विस्तार भेदों का उपाधि के कारण होने वाले विस्तार से होने वाले जो भेद मैं हूं यश अहम विध्वस्त सर्वोपाधि भेद सारे उपाधि भेद कोई नहीं जहां उपाधि के नाम निशान में जहां निर्विशेष जिसको आत्मा कहते हैं वेदांत में ब्रह्म बोलते हैं निर्विशेष कहते हैं उत्तम पुरुष जिसको उत्तम पुरुष कहा गया था पंचदश अध्याय में आकाश कल्प आकाश के समान निर्विशेष कैसा कल्प माने समान आकाश जैसा माने कल्प एक प्रत्यय होता है तो विद्वत कल्प विद्वत होना इत्यादि बोला जाता है आकाश कल्प आकाश के समान निर्विशेष तम माम अद्वैतम उसमें जो अद्वैत स्वरूप हो विध्वस्त स्वरूप आदि भेद वाला अद्वैत में हो उसको चैतन्य मात्र एक रसम केवल चैतन्य मात्र एक स्वभाव है मेरा कैसे स्वभाव है चैतन्य एक रस एक स्वभाव है चैतन्य मात्र ही है एक रसम अजम अजम स्वभाव है जन्म न होना और अमरम अमर स्वभाव है मृत्यु भी नहीं अजम अभयम भय रहित उस स्थान में भय नहीं होता द्वितीय अद्वैत भयम भगवती जब अद्वैत में पहुंचेगा भय का सवाल ही नहीं है अनिधनम कहते हैं निधन भी नहीं मृत्यु भी नहीं है तत्व तो अभी जाना थे वास्तव में जानता है उसके पश्चात सोपाधिक के माध्यम से चल करके निरुपाधि को समझता है क्यों सोपाधि की उपासना करेगा तो निरुपाधि को समझ पाएगा जब तक उपासना के माध्यम से सब स्वपादिक ब्रह्म की उपासना नहीं करेगा तब तक निर्विशेष का ज्ञान होगा ही नहीं साधन उपासना है उपास्य होता है स्वपादिक ब्रह्म निरुपाधिक होता है ज्ञ होता है ये ध्येय होता है उपास्य होता है स्वपादिक ब्रह्म जो ईश्वरादि शब्द से कहा जाता है वो ध्येय है उपास्य है और तत्व तो अभिजान तत्व बने निर्विशेष रूप से तब जानता है तत्व हम तत्व तो ज्ञातवा विशदे तरह यही है तत्व माम एवं तत्व तो ज्ञातवा वास्तविक निरुपाधिक रूप से जान करके विषते विष प्रवेश धातु है विषते तदनंतर का उसके अनंतर मेरे में प्रवेश कर जाता है एक ही हो जाता है तदनंतर महादेव मेरे को प्राप्त होगा था माने रामचंद्र माने रामचरित मानस में कहा हुआ है सो जान ही देहु जेहू जनाई देहू जनाई तो तुम ही तुम ही हो जाए तुम्हें जानने वाला तुम ही हो जाता है दूसरा नहीं हो सकता वेद ब्रह्म ही भगवती उसी का होता है सो ही जान ही वही जान सकता है भारद्वाज जी ने कहा है भारद्वाज जी बोलते हैं सो जान ही देही यही देव जाना जिसको तुम ज्ञान करा देते हो वही जानता तुम्हें तुम्हें ज्ञान करा दोगे तुम्हें जानेगा भगवान राम से बोल रहे हैं भरद्वाज जी जान तो तुम्हें तुमको जानकर क्या होगा तुम ही हो जाए तुम ही होगा दूसरा नहीं हो सकता उसका ब्रह्मवेद ब्रह्मयो होती करता है तो तत्वमान तत्व तो ज्ञातव है उत्तरार्थ में कहा तत्वमान एवं तत्व तो ज्ञातव इस प्रकार से वास्तविक रूप निर्विशेष रूप से जान करके विशते तदनंतर उसके बाद प्रवेश करता है मैंने कहा माम एवं मेरे को ही प्रवेश करेगा परमात्मा बोल रहे हैं माने मधुरूप हो जाए नात्र ज्ञानांतर प्रवेश क्रिय भेदे विकसित करें पहले जानेगा उसके बाद प्रवेश करेगा दो क्रिया पहले ज्ञान क्रिया बाद में प्रवेश दो क्रिया है कहते नहीं यह अनुवक्षित नहीं है तत्वमान तत्व तो ज्ञापवा तो विशेषता देखने में लगता है कि पहले ज्ञान उत्तर काल में प्रवेश दो क्रिया पहले ज्ञान क्रिया जानना रूप क्रिया उत्तर काल में प्रवेश क्रिया किंतु यह ऐसा अर्थ नहीं है ये कहते हैं अत्र अत्र मैंने अश्विन श्लोक है इस श्लोक में न ज्ञानांतर प्रवेश क्रिया भिन्न विवक्षित है ज्ञान और बाद में होने वाली जो प्रवेश क्रिया ये दो क्रिया भेद नहीं है दो क्रिया नहीं है क्यों विवक्षित ज्ञातवा विशदे पहले ज्ञातवा क्रिया है तत्वमान तत्व तो ज्ञातवा विसदे तदनंतर ऐसा दो क्रिया लग रही है दो क्रिया नहीं है भिन्न विवक्षित नहीं है किमतरी फिर क्या है प्रश्न होगा तो दो क्रिया नहीं है तो क्या है जो प्रश्न है मूल में तत्वमान तत्व तो ज्ञापवा विशते तदनंतर प्रवेश क्रिया ज्ञान क्रिया दो दिख रहे हैं चिंतरी फिर क्या है दो क्रिया नहीं तो प्रश्न उठाकर कहा फलांतरा भाव ज्ञान ज्ञान मात्र अनुभव कहते हैं अन्य फल है ही नहीं ज्ञान ही यहां पर प्रवेश है क्या है जानना ही है जान जैसे अतिरिक्त तो कोई फल है नहीं नहीं जैसे स्वर्ग काम ये ऐसे वाक्य सुना जाना स्वर्ग के साधन याद है समझा जाना उसके बाद क्रिया करनी पड़ी जानने के बाद क्रिया होगी तभी स्वर्ग मिलेगा कल जानने मात्र से स्वर्ग का साधन याग है इतना जानने से स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा क्रिया करनी पड़ेगी किंतु यहां पर जानना ही पर्याप्त है आगे प्रवेश होना भाई नहीं जानना ही प्रवेश है दो क्रिया नहीं है ये कह रहे हैं चिंता ही प्रश्न हो रहा फिर दो क्रिया नहीं तो क्या है तो उत्तर देते हैं फलांतरा भाव अन्य फल का अभाव है यहां प्रवेश क्रिया का अभाव है ज्ञान मात्र में वह ज्ञान मात्र को ही कहा है यहां प्रवेश मान ज्ञान ही है जानना ही पर्याप्त है यहां क्यों कैसे जानना पर्याप्त का वो जीव जो है मेरे स्वरूप करके त्रयोदश अध्याय बोल गया है क्षेत्र ज्ञातिमान त्यागिमान विद्यु भारत क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान पदम ममा त्रयोदश अध्याय बोल क्या है बात क्षेत्र आत्मान विद्धि क्षेत्र के जो बोलते हैं ना क्षेत्र में जाना क्षेत्र के शरीर को जानने वाला इदम शरीरम कौनते क्षेत्रपति विधेय थे तो था ये शरीर को क्षेत्र कहा जाता है खेत इस कहा जाता है और हाँ, इदम शरीरम कौनते क्षेत्रपति विधेय थे ये तदीय व्यक्ति जिस जिसको जो जानता है ये तत् इस शरीर को जो जानता है व्यक्ति तम प्राह क्षेत्र में तत्व उसके जानने वाला व्यक्ति क्षेत्र के कहते इसको जानने वाले को क्षेत्र के कहते हैं यही है तो क्षेत्र के शब्द का अगले स्वरूप कहते हैं क्षेत्र के अभिमान विधि सर्व क्षेत्र स्वार्थ कहते हैं वहां क्षेत्रज्ञ के मेरा ही स्वरूप है मेरे से भिन्न नहीं है उपाधि के कारण से उस रूप में दिख रहा है उपाधि हटाए तो मेरा स्वरूप ही है वो मैं ही हूं उपाधि के कारण से क्षेत्रज्ञ रूप में दिख रहा हूं अंतकरण आदि उपाधि के कारण कहा हुआ है इति उक्तत्वाद बोल दिया ननो विरुद्धम इधो उत्तम ज्ञान से अपरा निष्ठा तया माम अभिजान आदि पूर्व पक्षी शंका करता महाराज विरुद्ध कहा आपने विरुद्धम इधो उत्तम ये तो विरुद्ध विरोधी बातें कही आपने ज्ञान से अपराष्ठा ज्ञान भी जो परानिष्ठा परानिष्ठ माने ध्यासन करते करते आगे जा करके बिल्कुल जानता है बोला हुआ आपने ज्ञान से परानिष्ठा जो ध्यासन कहा तया माम अभिजान उसके द्वारा जानता है कहा शास्त्र से जाना उसके बाद में निध्यासन करेगा निध्यासन के बाद में मुझे प्राप्त करता है कहा मेरे को जानता है कहा यह विरोधी बात है पूर्वाजी पूर्वाजी बोल रहा है कथम विरोधम सिद्धांत मुझे कैसे विरोधी कहा आपने ज्ञान की जो परानिष्ठा करके कहा था उसके द्वारा मेरे को जानता है कहा तो क्या विरोध हो गया चेत उच्चते पूर्वाजी रहा कहा जाता कैसे कहा यदा एवं यशमिन विषय ज्ञान उत्पन्न जिस काल में जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होगा जिस जिस काल में यदा जिस काल यशमन विषय ज्ञान उत्पत्ति थे जिस विषय का ज्ञान होगा जिस काल में ज्ञात हो ज्ञाता को ज्ञान होगा किसको होगा जिस विषय में जिस ज्ञान होगा ज्ञाता को तदाव तम विसर्ग भजन उसी काल में उस विषय को ज्ञाता जानता ही है ना तो बाद में जब निष्ठा के द्वारा जानना ही तो बनेगा ना जिस काल में ज्ञाता को जिस विषय का ज्ञान होगा तो उसी काल में ही वो विषय को जानता ही है जब आपका ज्ञान होगा तो आपको जानेगा ही उसी काल में फिर परा निष्ठा से जानना तत्व माम तत्व ज्ञाप तो अभिषेक ये कैसा है ठीक है ज्ञाता न ज्ञान निष्ठाम ज्ञानावृत्ति लक्षणाम अपेक्षा दे ज्ञान निष्ठा मान ज्ञान के आवृत्ति स्वरूप की अपेक्षा नहीं रखेगा ज्ञान क्या क्या चीज की अपेक्षा नहीं रखता आवृत्ति क्या नहीं रहेगा ज्ञान निष्ठा करता ज्ञानावृत्ति ज्ञान की आवृत्ति लक्षण निर्देशन कहा गया उसकी रखता है जिस काल में जिसमें सबका ज्ञान होगा काल में विषय को जानेगा ही तो ज्ञानावृत्ति लक्षण की अपेक्षा तो करता नहीं जाता ततः ज्ञान है ना ना भी जाना थे अब आपका कहना है ज्ञान से तो नहीं जानता किसी नहीं जानता ज्ञान के निष्ठा से जानेगा आवृत्ति से जानेगा ये कहना विरोध है तथा ज्ञान है ना भी जाना थी ज्ञान के द्वारा तो नहीं जानता ज्ञानावृत्तिया तो ज्ञानवृत्तिया नहीं ज्ञानावृत्तिया तो ज्ञान की आवृत्ति से तो, तो ज्ञान निष्ठया अभिजानाती देती विरुद्धम एक विरुद्ध है पूर्व में कहना पड़ेगा विरुद्ध है ज्ञान वृत्तियां नहीं ज्ञानावृत्तियां मात्र चला देना चाहिए ज्ञान की आवृत्ति से तो ज्ञान निष्ठा निष्ठा के द्वारा जानता है कहना विरुद्ध कहा जाता है ज्ञान से नहीं जानता ज्ञान की आवृत्ति का पर जिस काल में ज्ञान होगा जिस विषय का वो विषय को जानता ही है उसी काल में जाता फिर आगे आवृत्ति की आवश्यकता क्या है ये पूर्वाजी ने कहा सिद्धांत उत्तर देंगे नैशो रसग्रह उत्तर देंगे टीका से देखना है भक्तया समाधिजन्या माम ब्रह्माभिमुख्य न प्रत्यक्षतया जानादि व्यापक भक्ति कौन है समाधि निष्ठ भक्ति है माने समा सर्वेश भूतेशु कहा है समान देखना रूपी जो भक्ति है सभी भूतों में सुख दुख को समान समझना ये भक्ति समाज जन्य समाज यही है इस द्वारा जन्य जो भक्ति है माम ब्रह्म अभिमुख्य न प्रत्यक्ष जाना मुझे जानता है कि ब्रह्म के अभिभोग करके जानता है मैंने ब्रह्म रूप से जानता है मुझे मैंने ब्रह्म के अभिमुख्य करके प्रत्यक्ष आत्म रूप से जानता है मेरे को जानता है भिन्नत्व नहीं जानता अभिन्नत्व जानता है व्याप्त व्याप्त करता है तदेव ज्ञानम भक्ति पराधीन ज्ञान भक्ति के पराधीन है जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा भक्ति ज्ञान आए कल्पते ऐसा आया जब भगवान की उपासना आदि होते हैं भक्ति होते हैं वो ज्ञान के लिए समर्थ होता है स्थिति है तो भागवत तो कहते हैं भक्ति सुतौ तो तरुण गृहत्व आदि बोलते हैं महात्मा बोलते हैं माने भगवान की उपासना करेंगे भक्ति करेंगे उपासना करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य पैदा होंगे तो उनके पुत्र माने जाते हैं उपासना के माध्यम से दो पैदा हो जाते हैं ज्ञान और वैराग्य विश्व से वैराग्य अपना ज्ञान तब पैदा होता है जब तक जीवन में उपासना नहीं है भक्ति नहीं है तब तक ये दोनों होंगे ही नहीं ना वैराग्य होगा ना ज्ञान होगा ज्ञान और वैराग्य की नहीं है भक्ति उपासना जिनको बोलते हैं उपासना भक्ति उपासना एक ही चीज है माने हम अपने इष्ट के पास बैठे हो और कोई ना हो अन्यकार वृत्ति हमारे सामने ना आए एकाकार वृत्ति में हम बैठे रहे उसी का नाम उपासना है उप आसन उपमान समेत आसन बैठना ये उपासना टीका टीका में ये बोल रहे थे तदेव ज्ञान भक्ति पराधीन भक्ति का अधीन है ज्ञान जब तक भक्ति नहीं है तब तक ज्ञान नहीं होगा भक्ति के पराधीन है ये व्याख्या करते हैं यावान उपाधिकृत विस्तर वेदो ज्ञान ये होगा कैसा ज्ञान भक्ति के अधीन होने वाले ज्ञान कैसा हो जैसे मैं जितने उपाधि विशेष के द्वारा युक्त हूं उसको जानता है सोपाधि को जानता है मेरा और दुष्टा यश अहम विध्वस्त सर्वोपाधि भेद कई उपाधि नहीं निरस्त सर्वोपाधि भेद निरस्त है जहां क्या निर्विशेष में उसको भी जानता है सविशेष निर्विशेष दोनों को जानता है आकाशकल्पत्व अनवच्छिन्नत्व असंगत्व च आकाश कहा था मेरा सूत्र तो आकाश के समान ही कहा था तो आकाश कल्पत्व क्या है अनवच्छिन्नत्व व्यापकता है और असंगता है कैसी है जैसे आकाश व्याप्त है व्यापक है उस बारे में व्यापक हूं और तो मान जैसे आकाश में कोई संग नहीं होता असंग है उस प्रकार में भी असंग हूं ये सूत्र जानना आकाश काल प्रकार से यही है कहा चैतन्य से विशेष सापेक्ष तो प्रतीक्षवती चैतन्य विशेष आपेक्ष हो इसका खंडन करते नहीं निरपेक्ष विषय निरपेक्ष चैतन्य विध्वस्त सर्वोपाधि भेद कहा था विशेष सापेक्ष नहीं है वो चैतन्य सभी विषय के निरस्त करके बैठा हुआ चेतन होता है अद्वैतम कहा हुआ है अद्वैतम ये कहा होता हाँ चैतन्य मात्र दर्शन कहा हुआ है ये तो द्रव्य बोधात्मत्व आत्मा बनते तान प्रति मीमांसा द्रव्य रूप मानते हैं ज्ञान रूप मानते हैं आत्मा को दोनों विस्तृत मानते हैं द्रव्य स्वरूप है और ज्ञान रूपी है तो उसका खंडन करते हैं चैतन्य मात्र क्या देने बोध बोध मात्र है चैतन्य मात्र है वो द्रव्य रूप नहीं आत्मा द्रव्य रूप नहीं केवल ज्ञान मात्र है चैतन्य मात्र कहा इसलिए कहा हुआ है तन मात्र भी आत्मा में चैतन्य मात्र होने पर भी चलो चैतन्य मात्र मानेंगे आत्मा होने पर भी धर्मांतर उपयुक्त अन्य धर्म तो होगा ना आत्मा में आत्मा धर्म होगा कोई आत्मा में भी धर्म होगा आत्मा तो चैतन्य मात्र हो गया एक वस्तु द्रव्य रूप नहीं हो किंतु उसमें धर्म होगा धर्मांतर उपेत्य धर्म धर्म भाव होगा आत्मा में द्वैत आएगा ये शंका आगे तो खंडन करते हैं एक रस एक रस चैतन्य मात्र एक स्वभाव है उसका क्या है अन्य कोई स्वभाव नहीं है धर्मधर्म होना संभव भी नहीं द्वैत होना संभव नहीं सर्व विक्रिया राहित्य उक्तिया सारी विक्रिया से रहित कहा हुआ है तो सारे सारी विक्रिया अभाव के द्वारा उक्तिया में आत्मा व्यवस्थापति आत्मा कुटस्थ है माने कोई भी क्रिया नहीं है जायते अस्थि वर्धते विपरीण होते विनशते कोई क्रिया नहीं आत्मा में आत्मा उत्पन्न नहीं होता अस्थि क्रिया आत्मा में हाय करके नहीं बोला जाता वर्धते क्रिया नहीं आत्मा बढ़ता नहीं और विपरीत भी नहीं होता आत्मा अपक्षण भी नहीं होता आत्मा नाश भी नहीं होता सारे क्रियाओं के रहित कथन के द्वारा क्या सिद्ध होता कौटस्थम आत्मनो व्यवस्था कूटस्थ आत्मा कहा जाता है कूटवत तिष्ठित कूटस्थ जैसे लोहा जिस लोहे में कच्चे लोहे में कपे लोहे को पीड़ता है नीचे वाला जो लोहा होता है उसमें कोई विकार नहीं आता उसको कुटस्थ बोलते हैं इसी प्रकार रहता है वो आत्मा कितने बार संसार आए गए आए गए आत्मा में कोई खर्च नहीं आता परमात्मा में खर्च नहीं है जैसे वो जो कच्चा लोहे में कितने लोह बन के जाते हैं औजार बन के जाते हैं उसे कोई खर्च नहीं आता ऐसा अथवा रेल की लाइन है कितने रेल आए गए चलते रहे गाड़ियां कुछ लाए में कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार वो बहुत कहा आपको आप व्यवस्था ये व्यवस्था व्यवस्थित करते हैं कैसा है अजन्म अजन्मा है इसलिए कोई क्रिया नहीं होगी उसमें क्या होगा तो जायते से आपकी क्रिया शुरू होती है अजन्मा है अजम कहा हुआ है अजरम बूढ़ा भी नहीं होता आत्मा वृद्धावस्था नहीं होती उसकी अजरम अमरम मृत्यु भी नहीं आत्मा की अभयम भय भी नहीं वहां अनिधनम निधन भी नहीं है इत्यादि तत्व को तो हम जानते आत्मा के स्वरूप इस रूप से जानता है यह आता है उक्त क्रिया भावे ये सारी क्रिया जो बताई गई एक रसम अजम अजरम अमरम अभयम अनिधनम इत्यादि क्रिया है इसके अभाव होने पर तद हेतु अज्ञान असंबंध है उसका कारण क्या था यह जन्मादि के कारण कौन था अज्ञान उसके उसका हेतु जो अज्ञान है उसके संबंध का अभाव दिखा है क्या दिखा है यदि अज्ञान का संबंध होता तो जन्म आदि होता अजय अजय नहीं बन बोल सकते थे तो कारण का निषेध कर दिया अज्ञान का निषेध कर दिया ये कहा अभयम इत्यादि शब्द कहा में अनुदय तत्फलम विधेयक कैबलम लंबाई नहीं ज्ञान का अनुवाद करके उसका फल होगा तत्व ज्ञान माने आत्मज्ञान ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान वही है उसका फल विधेयक कैबल्य विधेय कैबल्य हो जाता फल तत्व ज्ञान के बाद विधेयक कैबल्य एक अभाव में जाना तथा इत्यादि कहा था तत्व माम तत्व ज्ञात का विषय से तदनंतरम यही अर्थ था श्लोक का उत्तरार्थ यही था तस्मात अनंतर प्रवेश के तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान है तस्मात तत्व ज्ञान अनंतर प्रवेश क्रिया से भिन्नत्व प्राप्त हो क्या होगा तत्व ज्ञान और उससे बाद में होने वाली जो क्रिया है प्रवेश क्रिया दो पे भेद प्राप्त हो जाएगा तत्व ज्ञान के बाद में प्रवेश करेगा एक तो ज्ञान क्रिया दूसरा प्रवेश क्रिया भिन्नत्व प्राप्त प्रत्यय खंडन करते हैं ना नात्र इत्यादि शब्द कहा नात्र ज्ञानांतर प्रवेश क्रिया भिन्न विवक्षित है ज्ञान और आगे होने वाली जो क्रिया प्रवेश क्रिया या भिन्न दोनों भिन्न विवक्षित नहीं है भक्तों विष्टम विवक्षित विवक्षित नहीं है ज्ञातवा विशदे तदनंतर जो कहा हुआ है तत्वमाम तत्व तो ज्ञातवा विशदे तदनंतर श्लोक में देखते हुए तो लगता है भिन्न दो क्रिया है पहले जानता है जानने के बाद में प्रवेश करता है किंतु ऐसी दो क्रिया नहीं तो किम तरी इत्यादि भाष्य में है ठीक है भिन्नत्व भावे का गति तो भेद नहीं तो फिर ये, ये श्लोक के अर्थ क्या करेंगे गति क्या है श्लोक का तत्व मान तत्व तो ज्ञातवा विशदे स्पष्ट है भेद दिख रहा है ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया तो भिन्नत्व अभाव यदि भिन्नत्व नहीं है दोनों में भेद नहीं है ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया में तो का गति श्लोक की क्या गति होगी कैसे लगाएंगे श्लोक को कैसे लगाएंगे भेदोक्ति कथा कथ कहा गति भेदोक्ति भेद कथन का कैसे गति होगी कैसे भेद करेंगे इति आशंका औपचारिक तो औपचारिक भेद है वास्तविक भेद नहीं है गौण रूप से कहा गया किस रूप से मुख्य रूप से भेद नहीं है चिंतन ही प्रश्न है फिर क्या है भेद नहीं तो क्या है प्रश्न आया तो उत्तर दिया फलांतरा बाबा ज्ञान मात्र कहा ज्ञान मात्र अन्य फल है ही नहीं प्रवेश करना है ही नहीं द्वैतभाव से जाना नहीं है वही था वही है अज्ञान के कारण भिन्नत्व तो वास्ता था इतनी बात है भिन्नत्व तो वास्तव में था ही नहीं ज्ञान मात्र ही है जानना ही फल है आगे प्रवेश करना नहीं है ठीक है मुझे कहना है प्रवेश विशेष प्रवेश फलांतरा भाव ज्ञान मात्र में एक प्रवेश ज्ञान मात्र को ही प्रवेश कहा गया क्या कहा ठीक है प्रवेश है जी शेष लगा दिया ज्ञान मात्र में प्रवेश कहा जानना ही प्रवेश है ब्रह्म प्राप्ति वो फलांतर में जा सका नहीं नहीं ब्रह्म की प्राप्ति करेगा ना पहले जानेगा उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति करेगा फलांतर है अन्य फल है पहले ज्ञातवा तत्वमा तत्व ज्ञातवा ब्रह्म को जान करके उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति करेगा ये शंका आ गई ब्रह्म प्राप्ति वो फलांतर ज्ञान के फल की अपेक्षा ब्रह्म प्राप्ति अन्य फल है शंका आगे कहा ब्रह्मात्मा और भेदाभाव अरे बाबा ब्रह्म और आत्मा का भेद होता ना तो प्रवेश करता फिर भेद आई नहीं वो तो औपाधिक था उपाधि के कारण भेद वास रहा था वास्तव में भेद था ही नहीं ब्रह्मात्मा और भेदाभाव थी ब्रह्म और आत्मा का भेद का अभाव होने के कारण न ज्ञानातिरिक्ता तत्प्राप्ति ज्ञान से अतिरिक्त प्राप्ति है ही नहीं ज्ञान ही प्राप्त है ज्ञान ही प्राप्ति है उसके प्रवेश क्रिया से प्राप्ति है ही नहीं कहा क्षेत्र के विचार बोला हुआ है ये क्षेत्रज्ञ स्वरूप मैं ही हूं वो तो उपाधि के कारण से क्षेत्रज्ञ कहला रहा है वास्तव में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं ज्ञान निष्ठया परया भक्तिया माम आदि उत्तम आक्षिपति ज्ञान निष्ठा परम भक्ति के द्वारा कोई ज्ञान निष्ठा है उसके द्वारा मेरे को जानता है कहा था उसके ऊपर में आक्षेप करता बोलवादी ज्ञान निष्ठया परया भक्तिया जो ज्ञान निष्ठा परम भक्ति है उसके द्वारा माम आदि कहा था तत्वम तत्व ज्ञात विसर्जन में कहा उसको ऊपर करता है पूर्वाधिकार नणु विरुद्धम इदम उत्तम ज्ञान से अपराधिष्ठा तया माम अभिजानाती इत्यादि ज्ञान की जो तो परानिष्ठा है माने निध्यासन जिसको बोलते हैं परम सीमा है पराकाष्ठा है ज्ञान की उससे मुझे जानता है कहा ये विरुद्ध है पूर्वाधिकार तो सिद्धांत ने पूछा कथम विरुद्धम भाई कैसे विरुद्ध हुआ भाई जेद उच्चते पूर्वाधि बोलता है उत्तर देते हैं यदा वो यशमिन विषय ज्ञान उत्पन्न जिस काल में जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होगा घट का ज्ञान जिस काल में हो गया अयम घट ज्ञान हो गया तो घट को जानेगा ही उसी काल में तो फिर घट को जानने के लिए आगे निर्यासन करेगा नहीं करता जिस काल में जिस विषय का ज्ञान होगा उसी काल में विषय को जानता ही है इस पर जिस काल में आपका ज्ञान होगा उसी काल में आपको जानता ही है तो आपको जानने के लिए फिर निर्यासन की आवश्यकता है परानिष्ठा की ज्ञान की परानिष्ठा की आवश्यकता क्या है ये पूर्वाधिक कर रहा है यदा एवं काल में ही इसमें विषय ज्ञान उत्पन्न है जिस विषय में ज्ञान उत्पन्न होगा जिस काल में जिस विषय का ज्ञान होगा ज्ञातु किसको होगा ज्ञान ज्ञाता को होगा तदा एवं उसी काल में ही तम विषय में अभिजान आती ज्ञाता उस विषय को जानता ही ज्ञाता न ज्ञान निष्ठाम वृत्ति लक्षण अपेक्षा थे वो ज्ञाता कोई ज्ञान निष्ठा बने ज्ञान वृत्ति की अपेक्षा तो करेगा नहीं उस विषय को जानने के लिए लिए विषय को जानेगा जिस काल में ज्ञान हो गया उस काल में विषय जान लिया फिर वो विषय को जानने के लिए ज्ञान के आवृत्ति स्वरूप लक्षण विवक्षा नहीं करता तथा से ज्ञान आप जानाती ज्ञानावृत्तिया तो ज्ञान निष्ठया जान जानाती थी विरुद्धम यही विरुद्ध है पूर्व विरुद्ध पद है तो ज्ञान के द्वारा तो नहीं जानता और ज्ञान की निष्ठा जो ज्ञानावृत्ति लक्षण है उसके द्वारा जानता जाना विरुद्ध है ये पूर्वाज ने कहा ठीक हम बोलते हैं विरुद्धत्व स्वरत्व प्रसिद्ध सिद्धांत पूछते विरुद्ध को स्पष्टीकरण के लिए सिद्धांत पूछते कैसे विरोध होगा ये उत्तर देते हैं पूर्वादि कहेगा विरोध स्फुटीकरण प्रतिजानित पूर्वादि प्रतिज्ञा करता है विरोध को स्पष्टीकरण के लिए प्रतिज्ञा करता है उच्चते ग्रंथ से कहा तथा ज्ञान से उत्पत्ति विषयाभिव्यक्ति इतिहास पूर्वादि का कहना है ज्ञान की जो उत्पत्ति है ना वो विषय की अभिव्यक्ति हुई है ज्ञान उत्पन्न हुआ तो विषय अभिव्यक्ति होगी दीपक जला तो विषय समझ में आ गया तो ज्ञान उत्पन्न होने से विषय का ज्ञान हो ही जाता है यही है यदा एवं इत्यादि पूर्वाद ने कहा था यदा एवं स्मृति विषय ज्ञान उत्पन्न थे जिस काल में जिस विषय ज्ञान उत्पन्न होगा तदा एवं उसी ज्ञाता को उत्पन्न होगा तदा एवं उसी काल में ही कम विषय में भी जाना नहीं जाता ज्ञाता उस विषय को जानता ही है जिस विषय ज्ञान उत्पन्न हो गया उस काल में विषय को जानता ही है ज्ञाता तो इत्यादि कहा था ठीक है एवकार निरसन से एवकार यदा एव तदा एव लगा हुआ है क्या लगा एवकार के तो खंडन विषय होगा उसको दिखाते हैं न ज्ञान इत्यादि कहा था न ज्ञान निष्ठाओं ज्ञानावृत्ति लक्षणों में अपेक्षित ज्ञाता उसकी अपेक्षा तो करता नहीं ज्ञान निष्ठा मैंने ज्ञानावृत्ति लक्षणों की अपेक्षा करेगा नहीं जिस काल में जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न हो गया उस काल में विषय को जानेगा ही तो उस विषय को जानने के लिए ज्ञानावृत्ति लक्षण वो तो अपेक्षा तो करेगा नहीं ज्ञाता ये पूर्वाधिक कहा है यदि आवयो सिद्धम ये दोनों आप में भी सिद्ध है हमारे भी हम दोनों में अविरोध है दोनों के किसका जिस काल में जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होगा वो विषय को उसी काल में जानता है ज्ञाता आगे जानने के विषय को जानने के लिए नित्यासन करेगा नहीं ज्ञानावृत्ति लक्षण करना नहीं है उसने अपेक्षा नहीं करता ये तो आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं यदि आवयो हम दोनों का सिद्धांत और पूर्वक से दोनों का सिद्धम ये सिद्ध है जिस काल में जिस व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न होगा उस काल में विषय को ज्ञाता जानता ही है उसके लिए आगे विषय को जानने के लिए निध्यासन की अपेक्षा नहीं करता ज्ञाता ये तो आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं अयो तो सिद्धम हम दोनों की सिद्ध है पूर्वाधिक बोल रहा है एक कहा तो इसका उत्तर सिद्धांत देंगे नए सूर्य सग्र के आगे देंगे समय हो गया है यही रखते हैं फिर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमाराय पूर्णमेवाशिष्यत् ओ